परम मंगलमयी भगवती श्री राजराजेश्वरी के चरण कमलों में वंदन निवेदन करते हुए परम पूज श्री महाराज जी के एवं आश्रम में समुपस्थित सभी वंदनीय चरण संतजनों को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय कमल में विराजमान अंतर्यामिणी भगवती श्री दुर्गा माँ को विराजमान जानते हुए उनको प्रणाम कर भगवती के पावन चरित्र में हम सब प्रवेश करें उसके पहले उनके पावन नामों को एक दो बार दोहरा करके और अपनी मनवाणी को पावन बना लें